आत्मा असंग है उदासीन है अद्वितीय है फिर उसमें संसार कैसे हुआ तो इसके लिए कहा माया परिमोहित आत्मा आता है करोते सर्व जागृत काल में भोग करता है सपने सजीव सुख दुख भोक्ता समाया कल्पित विश्वलोके सुसुप्ति काले सकले तमो सुख रूप सुखरूपमेति स्वप्न सुश्रुति में ये भेद दिखाते हैं स्वप्न अवस्था में विक्षेप है सुश्रुति में विक्षेप नहीं है आवरण तो है जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था में आत्मा आवृत है अज्ञान आवरण से आच्छादित है अज्ञात है और अज्ञान का कार्य होता है आवरण का कार्य विक्षेप जागृत स्वप्न अवस्था में विक्षेप है स्वप्न सुसुप्ति में ये बताया विक्षेप और उसका अभाव संसार मोक्ष और अर्थात संसार में इस प्रकार विक्षेप है मोक्ष में विक्षेप नहीं आवरण भी नहीं सरस्वती में आवरण है किंतु विक्षेप में मोक्ष में आवरण भी नहीं है सपने सजीव सुख दुख भोगता ये मंत्र का अर्थ हो गया था सजीव सुख दुख भोगता जो माया से ही परिमोहित होकर के देहादि में हम बुद्धि करके जीवत्व को प्राप्त करता अभिमान करके वही सुख दुख भोगता सुख दुख और भोगता सुख भी भोग करता है दुख भी भोग करता है स्वप्न में जिस प्रकार जागृत में जैसे सुख दुख भोग होता है इसे स्वप्न में भी होता है तो स्वप्न सुख दुख देने वाले कर्म अलग है जागृत सुख दुख कारण सुख दुख का जागृत में सुख दुख का कर्म अलग है तो कर्म फल है सुख दुख है उसका भोग करता है स्वप्न में भी समाया कल्पित विश्वलोके वो माया से ही कल्पित जैसे पहले माया से कल्पित होकर के माया परिमोहितात्मा इसी प्रकार माया से कल्पित विश्वलोके तो पूरा संसार में सब कुछ प्रपंच कल्पना करता है जैसे जागृत में इसे सारे कल्पना करके सुख दो हो करता है स्वप्न में जो प्रपंच है उसको कहते वासनामय जागृत कालीन प्रपंच बहिर्द्रिय से माने है कालीन प्रपंच गृह गृहमान नहीं है वासनामय प्रपंच है वास्तव है ही नहीं बहिंद्र व्यापार से उपरत है उसी समय लगता है इंद्रिय के द्वारा हम देखते हैं शरीर इंद्रिय सब विषय सब वासनामय कल्पित है वो स्वप्न प्रपंच का ज्ञान साखी ज्ञान है साखी के द्वारा प्रकाश होता है स्वप्न प्रपंच क्योंकि प्रातिभाषिक है जिस प्रकार प्रातिभाषिक सर्प का ग्रहण प्रमाता को नहीं होता है प्रमाता तो प्रमाण से ग्रहण करेगा साक्षी का ज्ञान प्रमाण के बिना साक्षी है आत्म चैतन्य ही साक्षी है उसको साक्षी शब्द से कहते साक्षी तो आता है जो साक्ष्य का संबंध होगा साक्ष्य होता है दृश्य साक्ष्य संबंध से आत्म चैतन्य को साक्षी कहते हैं साक्ष्य का संबंध भी कैसे होगा आत्मा तो असंग है तो संबंध है आध्यासिक संबंध साक्ष्य दृश्य का आध्यासिक संबंध आरोपित संबंध होता है तो जिस संबंध से साक्षित्व हुआ वो संबंध वास्तव नहीं आध्यासिक है आध्यासिक संबंध के कारण साक्ष्य दृश्य के साथ प्रातिभाषिक पदार्थ का अज्ञान का स्वप्न प्रपंच का रज सर्प का साक्षी के साथ संबंध होता है आध्यासिक संबंध अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का संबंध आध्यासिक होता है वास्तव नहीं है जैसे मरुभूमि में जल का संबंध आध्यासिक का था कल्पित संबंध वास्तव संबंध नहीं है जो संबंध ही कल्पित हुआ जिस संबंध के कारण साक्षित्व आत्मा में आता है वो संबंध भी कल्पित है इसलिए साक्षित्व भी आत्मा में कल्पित है शुद्ध दृग रूप चेतन आत्मा है साक्ष्य संबंध से साक्षित्व का व्यवहार होता है वो साक्षी कहते हैं प्रमाता है अंतकरण विशिष्ट चेतन साक्षी में विशेषण नहीं होता है अंतकरण अविद्या अविद्या अंतकरण उपाधि है उपाधि होने से साक्षी कोटि में अविद्या अंतकरण कोई नहीं रहते उपाधि का अन्वय कार्य के साथ नहीं होता है जैसे तार्किक लोग कहते कर्ण सस्कुल अवच्छिन्न नभ श्रोत्रम श्रवण है कर्ण सस्कुल अवच्छिन्न आकाश तो इंद्रिय तो, तो आकाश में रहेगा कर्ण सस्कुल है उपाधि तो श्रवण इंद्रिय श्रवण इंद्रिय में कर्ण सस्कुली कान नहीं रहता है तद अवचन आकाश ये विशेषण और उपाधि में ही भेद है विशेषण का कार्य के साथ अन्य होकर होता है और व्यावर्तक विशेषण होता है उपाधि भी व्यावर्तक है किंतु कार्य के साथ अन्वय नहीं होता है और एक होता है उपलक्षण काक व दत्त से गृह काक उपलक्षण है वो रहे नहीं रहे तो गृह का परिचय को हो जाता है अविद्यमान भी इतर व्यावर्तकत्व कार्य के साथ अन्वय नहीं होता है उपाधि उपलक्षण दोनों का अन्वय कार्य के साथ नहीं होता है विशेषण का अन्वय होता है किंतु उपाधि और उपलक्षण में भेद है उपाधि विद्यमान होकर के व्यावर्तक उपलक्षण विद्यमान होकर के नहीं होकर के भी व्यावर्तक हो जाता है तो यह साक्षी कोटि में अंतकरण अथवा अविद्या नहीं रहते अविद्या से उपहित कहन से साक्षी केवल आत्मा ही साक्षी है वो ग्रहण करता है सुख दुख का स्वप्न अवस्था में जागृत काल में प्रातिभाषिक पदार्थ का भी ग्रहण साक्षी से होता है साक्षी तो नित्य है साक्षी ज्ञान जो साक्ष्य के साथ संबंध होता है वो कभी संबंध होता है तो वो कहते साक्षी भाष्य साक्षी प्रकाशक है स्वयं प्रकाश माने तो साक्ष्य जैसे सूर्य प्रकाश है घट सामने आएगा तो घटक प्रकाशित होगा नहीं तो नहीं है सूर्य प्रकाश ही साक्षी रूप प्रकाश सुश्रुति में है जागृत में भी है और प्रातिभाषिक पदार्थ का संबंध हुआ आध्यासिक तो उसको प्रकाश कर दिया प्रकाशित हो गया तो संबंध आध्यासिक होने से साक्षित्व आत्मा में कल्पित साक्षी स्वयं कल्पित नहीं साक्षित्व कल्पित साक्षी तो आत्मा ही है तो सुख दुख भोग होता है सुख दुख का ग्रहण सपने में होता है सुसुप्त में भी अज्ञान का प्रकाश होता है साक्षी के द्वारा सुसुप्ति काले सकले विलीने स्थूल प्रपंच का लय हो जाता है स्वप्न अवस्था में सुसुप्ति काल काल में स्वप्न का भी लय अंतकरण का भी अज्ञान में लय हो जाता है अज्ञान रहता है दृग रूप चेतन अधिष्ठान आत्मा तो है साक्षी और अज्ञान भी है और बाकी अज्ञान का कार्य जितने सबका लय लय है कारण रूपेण अवस्थानम कार्य कारण रूप से रहता है तो लय हो गया कारण है अज्ञान अज्ञान में सब लीन हो गए अज्ञान में लीन होने पर भी जब जागते हैं अपना अपना संस्कार कर्म ले करके आते हैं नहीं तो सुश्रुति अवस्था में सब एक हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे अज्ञान रहता है और अंतकरण कारण रूप से रहता है सबका अंतकरण भिन्न भिन्न है और बीज रूप से कहते कारण है बीज अज्ञान है बीज कारण तो सबका अंतकरण अज्ञान में बीज रूप से रहता है जैसे पृथ्वी में विभिन्न प्रकार बीज गिर करके पृथ्वी मिट्टी ही मिट्टी दिखती है और वो मिट्टी लेकर कहीं दूसरे स्थान में डालेंगे समय अनुप्रोश में अंकुर होकर के पौधा हो जाती है हो जाता है इसी प्रकार अज्ञान में अंतकरण सब कारण से रहता है तो जो साक्षी के द्वारा प्रकाश होता है अज्ञान का प्रकाश होता है सुश्रुति काल में विषय है केवल अज्ञान अज्ञान को साक्षी प्रकाश करता है तब अज्ञान में वृत्ति होती साक्षी है वृत्ति के द्वारा प्रकाश करता है अज्ञान की जो वृत्ति है वो वृत्ति कादाचित की है तो है किंतु वृत्ति परिणाम वो वृत्ति का संस्कार वृत्ति में संस्कार हो जाता अनुभवजन्य और उसका अंतकरण में संस्कार आ करके फिर प्रमाता स्मरण करके होता है न किंचित अवेदिशम साक्षी के साथ प्रमाता का एकत्र तादात्म होता है तो प्रमाता कहता है न किंचित अवेदिशम और भारतीयकार भगवान कहते सूर्यश्वाचार्य न किंचित अविदिशम ये स्मरण नहीं है ये जो परामर्श होता है जगने के बाद कहता है क्योंकि साक्षी तो चैतन्य अभी है और अज्ञान भी अभी है तो वर्तमान अज्ञान साक्षी प्रकाश करके कह साक्षी प्रकाश करता है प्रमाता कहता है और न किंचित दिशा अतीत काल प्रयोग करता है काल भी साक्षी में अध्यस्त है अतीत काल भी अध्यस्त होने से जगने के बाद कहता है इसे भारतीय भगवान कहते हैं तो सुश्रुति काल में अज्ञान रहता है ये सिद्ध है और सब लीन होने पर लीन होने का यही अर्थ है कारण रूपेण अवस्थान कारण ही अज्ञान अज्ञान रूप से रहते हैं इसलिए यहाँ भी श्रुति में स्पष्ट कहा गया तमोभिभूत सुख रूप मेथी सुख रूप को प्राप्त करता है तमो अभिभूत अज्ञान तम से अभिभूत है आत्मा अज्ञान रूप तम से अभिभूत है आवृत है अज्ञान से आवृत होकर के ही जीव रहता है शुद्ध चैतन्य सुश्रुति काल में तमोभिभूत कौन से अज्ञान से आवृत है सुख रूपम एति सुख रूप प्राप्त करता है स्वप्रकाश आनंद स्वरूप है विक्षेप के अभाव मात्र में से ही सुश्रुति अवस्था में जीव आनंद ब्रह्म के साथ अत्यंत निकटतम हो जाता है केवल आवरण रहा जब विक्षेप हो जाता है तो दूर हो गया जिस प्रकार अभी भी जागृत अवस्था में विक्षेप ध्यान नहीं ध्यान के समय विक्षेप बहुत हो एकाग्र नहीं होता है दुखी होता है ये शांत हो जाता है विक्षेप कम होता है तो अच्छा लगता है सामान्य रूप से विक्षेप बहुत जिसमें विक्षेप ज़्यादा है वो ज़्यादा दुखी है विक्षेप कम होने से शांत अच्छा लगता है इसे ध्यान करके शांत सत्संग करेंगे तो शांत होता है तो अच्छा लगता है विक्षेप शांत होने पर और विषय बिल्कुल अभाव हो जाए सुश्रुति अवस्था में तो केवल आवरण रहा तो आनंद रूप ब्रह्म के पास ही हो गया एक रूप हो जाता है केवल आवरण रहा तो सुख रूप प्राप्त करता है टीका में सपने इंद्रिय ग्राम उपरम रूपायाम सपनावस्थायाम स्वप्न का अर्थ इंद्रिय ग्राम ग्राम है समुदाय इंद्रिय समुदाय सब इंद्रिय ऊपर तो हो जाती है उपरम रूपायाम सपनावस्थायाम इंद्रिय उपरम होने से ही स्वप्न इंद्रिय से ग्रहण होता है तो निद्रा नहीं है निद्रा पर इंद्रिय का इंद्र के देखना बंद बंद होता है सुनना बंद हो जाता है कोई कोई सुनते रहे सुनना चाहते हैं लेट करके कभी नींद लग जाती पता नहीं चलता है कान तो खुला रहता है किंतु सुनाई नहीं पड़ेगा दिखाई नहीं पड़ेगा तो इंद्रिय उपरत तो हो जाती है स्वप्न अवस्था में सजीव जीव है जीव प्राण धारण है धातु है जीवती थी जीव जीवती का था प्राणान थी जब प्राण धारण करता है उसको जीव कहते हैं तो जीव प्राणानाम धारयिता धारण करने वाला वृक्ष भी जीव है प्राण धारण करने वाला पेड़ पौधे सब जीव है विभिन्न योनि में जन्म लेकर के पाप पुण्य के कारण अभी कोई पशु है कोई वृक्ष है कोई वृक्ष है कोई पौधा पौधा छोटा है कोई घास है कोई कीड़ा मकोड़े है सब जीव है प्राण धारण करने वाला विविध विषय वासना वासित विविध विषयजन्य वासना जागृत काल में विविध विषय भोग करता है भोग होने से उसका संस्कार रहता है संस्कार युक्त वासना क्या संस्कार है संस्कार से युक्त होकर के स्वप्नवस्था में सुख दुख भोगता सुख दुख भोग करता है सुख दुख अनुभव करता है अहम सुखी अहम दुखी ते मम रूप प्रत्ययवान तो उसको इसमें सुख दुख ज्ञान होता है सुख दुख भोगता होता है स्वप्न काल में जैसे जागृत काल में तत्र संसार से दृष्टान्त न वास्तव तुम बारहती संसार के लिए दृष्टान्त देते हैं वास्तव नहीं संसार दृष्टान्त न दृष्टान्त न संसार से वास्तव वास्तवत्व बारहती संसार वास्तव नहीं दृष्टान्त के द्वारा वास्तवत्व का वारण करते है स्वमाया कल्पित विश्वलोके स्वमाया सस्य माया स्वमाया ष्ठी समासे माया ज्ञान तत्देहाभिमानिनो माया सस्य का अर्थ क्या तत्त देह में अभिमान करने वाला देह अभिमान करने वाला उसकी जो माया है अज्ञान केवल अज्ञान आवरण नहीं माया सत्य माया का दो कार्य है कि अज्ञान और एक विपरीत ज्ञान विक्षेप आवरण विक्षेप तो अज्ञान विपरीत ज्ञान च ये माया शब्द से लेना तया कल्पितम स्वमाया कल्पितम विश्वलोके विश्वलोके कल्पित वासना रूपे विश्वस्विन रथ रथ योग पंथादिक निखिल भुवने लोके वने जने च कल्पित विश्वलोके सपने यथा यथा तद्व जागरे पीत्यर्थ कल्पित है वासना रूप ये सारे लोक स्वप्न प्रपंच वासना रूपे कल्पित है विश्वस्विन लोके सब सारे भुवन में रथ सपने कभी रथ देखता है रथो योग है अश्वादि पंथा मार्ग आदि से पर्वत नदी आदि का निखिल भुवन है सारे ब्रह्मांड में दिखता है ये वासना रूप ही है लोके वने जने च वन भी देखता है मनुष्य देखता है सब कुछ देखता है कल्पित विश्व लोके स्वप्न ही स्वप्न है विश्व सब कुछ जिसमें कल्पित है विश्वलोक यस्मिन जिसमें कल्पित है सारे सब कुछ कल्पित है यथ सपने दिखता है यथा तद्व जागरे जैसे सपने में दिखता है ऐसे जागृत में दिखता है सपना में कल्पित है तो जागर भी कल्पित है देखते समय जागृत अत्यंत सत्य लगता है सपना देखते समय क्या सत्य लगता है जागृत जितने सत्य लगता है सपना इतने ही सत्य लगता है कभी कभी अधिक है जागृत में जो दिखता है सपने में उससे विलक्षण दिखता है तो भी सत्य लगता है आम के पेड़ में चढ़ा चढ़ने के बाद ऊपर देखा एक तालाब है सपने में तो उस समय क्या संशय होता है बिल्कुल ठीक लगता है अथवा आम के पेड़ में चढ़ा और ऊपर देखा फल कुछ कटहल लगा और तो कटहल पकड़ कर खाता है कच्चा कटहल भी खा लेता है अथवा कटहल खो, खोला अंदर से अंदर से खोला तो अंदर दही निकला वो भी वो भी <laughs> घुस जाता है जैसे खाते समय लगा हो दूध जैसे लगता है खीर जैसे वो भी पी लेता है जैसे जो लगता है सो ठीक है कभी स्वयं ऐसे शास्त्र में आया कभी तो अपने को पेड़ देखता है कभी बंदर बन गया कभी कुछ देखता है जो जैसे लगता है ठीक है जागृत में से नहीं लगता है जागृत में कोई लिया पानी लिया पीते समय यदि गर्म हो जाए चाहे हाथ में ठंडा लगता है पीते समय मुख्य में गर्म हो गया संशय होगा इसे कैसे हुआ ठंडा है हाथ में रखता है मुख में कैसे गर्म हुआ और सपने में ले आ तो वो ठीक लगता है तो ठंडा है दूसरे को कोई कहा तो ये तो गर्म लगता है बोला और क्या है पानी तो ठंडा है मुख में गर्म हो जाता है दूसरे को सिखाता है <laughs> तो ये सपना में ऐसे ही सत्य लगता है अधिक बिल्कुल जैसे मिथ्या होने पर भी उसी दृष्टांत से निश्चय करना है सो जागृत प्रपंच सत्य लगना लगता है जरूर किंतु सत्य लगने से सत्य है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है माया अज्ञानम विपरीत ज्ञान से तया कल्पितम हो गया वन लोके बने जाने से कल्पित विश्व लोके स्वप्न यथा तद्व जागर भी देखता है सरस्वती काले सरस्वती काल में आनंद भोग अवसर आनंद केवल नहीं सुख दुख दोनों भोग करता है जागृत सपने में भोग समाप्त होने पर सकल भी विलीन है सब कुछ लीन हो जाते हैं तो विशेष विज्ञान सुश्रुति अवस्था में रहता है नहीं विशेष विज्ञान नहीं रहता है स्वरूप विज्ञान केवल रहता है विशेष विज्ञान स्वकारण लयंगते कारण में लीन हो गया अज्ञान में रहा एतावान सुश्रुतो मोक्ष च समो न्याय इतना अंश है सुश्रुति मोक्ष में विक्षेप नहीं समान है न्याय सुश्रुति में भी विक्षेप नहीं रहता है विपरीत ग्रहण नहीं रहता है मोक्ष में भी विपरीत ग्रहण नहीं होता है तो दो दोनों में इतने समान न्याय हुआ तो कुछ विशेष है या नहीं को विशेष क्या विशेष है फिर सरस्वती और मोक्ष में क्या विशेष है यांश तो विशेष इतने विशेष है ये विशेष इतने है सुश्रुति अवस्था में अज्ञान रहता है मोक्ष काल में अज्ञान नहीं रहता है ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो जाता है तमोभिभूत तमसा अभिभूत तमोभिभूत अज्ञान आवृत अज्ञान आवृत आच्छादित सुख स्वरूपम स्वयं प्रकाश आनंद रूप ही सुख स्वरूप आत्मा है जो आत्मा है वही सद रूप है वही चिद रूप है वही आनंद रूप है स्वप्रकाश आनंद मान आनंद आत्मस्वरूपम सुख स्वरूप उसको एक तक प्राप्त करता है सुश्रुति काल में सुश्रुति काल में प्राप्त करता है केवल इतने रहा अज्ञान आच्छादित है और जागृत काल में स्वप्न काल में अज्ञान से आच्छादित है या नहीं अज्ञान आच्छादित है विक्षेप भी है सरस्वती काल में विक्षेप नहीं अज्ञान है पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात सैव जीव सपीति प्रबुद्ध पुरात्र क्रीडति यश्च जीवस ततस्तु जातम सकलम विचित्रम पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात कर्म के कारण फिर सैव जीव सपीति प्रबुद्ध फिर जगता है अन्य जन्म में कर्म किया था कितने जन्म में कितने जन्म हो गए जन्म कर्म किया वो कर्म का फल भोगने के लिए ही शरीर प्राप्त करता है भोगायतनम शरीरम जितने शरीर ग्रहण करते हैं सब अज्ञान था वो अज्ञान से कर्म है कर्म भोगने के लिए शरीर ग्रहण हुआ है शरीर प्राप्त किया तो कुछ पाप पुण्य कर्म लेकर के आया जिसको कहते प्रारब्ध प्रारब्ध क्या प्र आंग प्रोक रब धातु से निष्ठा राब्ध आरंभ हुआ प्रकर्षण आरंभ हो गया फल देने के लिए कर्म तो बहुत ही है सब कर्म फल देने के लिए तैयार नहीं हुए पूर्व जन्म मरने के पहले जितने कर्म तैयार हो गए थे फल देने के लिए और परस्पर अविरोध भी हो विरोध होगा तो सब कर्म का फल एक जन्म में भोग नहीं हो सकता है अविरोध हो मनुष्य जन्म में जो कर्म फल भोग हो सकता है वही केवल आएगा कोई स्वर्ग में भोग करने का कर्म है कोई नरक में भोग करना कोई पेड़ पौधे पशु पक्षी योनि में भोग करना सब एक जन्म नहीं दे सकते हैं जो फल देने के तैयारी होगी अविरुद्ध प्रबल हो वो एक जन्म में भोगने के आएगा बाकी बहुत कर्म रहा आगे जन्म प्राप्त करेगा इस जन्म समाप्त होने के बाद इसी जन्म में कोई कर्म प्रबल कर्म है फल देने के लिए तो भी आ, मिल जाएगा पहले का कर्म मिल करके आगे जन्म बनेगा जो अभी कर्म लेकर के आया पुण्य पाप कर्म उसको कहते प्रारब्ध गर्भ में आते हुए फल देना शुरू कर दिया वो किंतु कर्म जितने पुण्य पाप है पूर्व जन्म मरने के पहले ही निश्चित हो गया था इसी जन्म में इतने ही भोगना पड़ेगा जितने पुण्य पाप जो लेकर के आता है पुण्य कर्म का फल सुख सुख साधन और पाप कर्म का फल दुख दुख साधन जितने सुख सुख साधन आपको मिलने वाला है दुख दुख साधन प्राप्त होने वाला है ये पहले से निश्चित है इतने ही मिलेगा जितने भी कुछ करे अधिक नहीं हो सकता है कम भी नहीं होगा नहीं चाहने पर भी जैसे दुख भोगना पड़ता है कौन चाहता है दुख भोगने के लिए नहीं चाहने के लिए दुख भोगना पड़ेगा इसी प्रकार नहीं चाहने पर भी सुख आपको जितने मिलना है मिल जाएगा विषय सुख के विषय के विषय नहीं दौड़े दिन नहीं हो तो भी आपके पास इतने आ जाएगा जितने पुण्य कर्म उसका फल अवश्य देगा यदि सुख जितने मिलना है विषय के पीछे नहीं दौड़े दिन नहीं बने किसकी याचना नहीं करे झूठ नहीं बोले तो इतने सुख मिलेगा मिलेगा ही तो फिर क्यों दीन बनना झूठ बोलना विषय के पीछे क्यों दौड़ना दौड़ने से अधिक में हो जाएगा यही समझना है नहीं समझ करके विषय के पीछे दौड़ते हैं दिन बन जाते हैं हम कहीं मिल जाए मिल जाए सारा जीवन भर जो मिलने वाला है इच्छा नहीं करने पर ही मिल जाएगा नहीं मिलने वाला है तो रोज रोज चिंतन करे जप करते रहे माला ले करेंगे तो भी नहीं मिलेगा बड़े बड़ी चीज़ क्या सामान्य कोई चीज़ देखो मन में रखो आज हमको हम ये चीज़ खाने की इच्छा है अंकुरित मूव खाने की इच्छा ऐसा सोच करके मारा लेकर जापो जिस दिन इच्छा उस दिन मिल जाएगा और जिस दिन कभी सोचा नहीं वो सामने आ जाएगा यदि खाने का है आपका कर्म में वो सामने आ जाएगा कभी सोचा नहीं उसको जिसका नाम कभी नहीं लिया था अभी पंद्रह दिन के अंदर वो कहीं सामने आ गया और जिसको पंद्रह दिन से सोच रहे हैं इसे खाए इसी खाएंगे पंद्रह दिन क्या और पंद्रह एक महीना छः महीना तक भी नहीं मिलेगा ये होता है तो इसी प्रकार जो सामान्य चीज में भी चाहने पर नहीं होता है जो बड़ी चीज नहीं है किसे एक मूंग का ऐसे कोई एक चीज आप सोचो देखो सोचो कभी पंद्रह दिन महीना छः महीना भी नहीं मिले और कभी सोचा नहीं सामने आकर में प्राप्त हो गया इसी प्रकार पुण्य पाप के कर्म फल कर्म के फल पुण्य पाप कर्म का जो फल सुख दुख साधना जब प्राप्त होने वाला है इच्छा नहीं करने पर ही मिलेगा इसलिए जितने जितने इच्छा करता है सोचता है मुंह को मिल जाए मिल जाए इतने दुखी होता है और क्या करता है इच्छा करके फिर कुछ प्रभुत्व होता है प्रभुत्व होने पर क्या इच्छा के कारण प्रवृत्ति होती है तो उसमें कभी कभी उल्लंघन हो जाता है चाहता है मिल जाएगा तो झूठ बोल देता है कोई चीज़ अपने पास है और एक प्राप्त करने की इच्छा कोई दे रहा है आपके पास है या नहीं है मिल गया मैंने नहीं वो तो पुराना हो गया <laughs> नहीं तो कोई लेने की इच्छा है तो फिर दूसरे भी ले लेगा उसमें कुछ बोल देगा तो ऐसे ही होता है दिन बन जाता है दिन क्यों बनना कुछ नहीं जितने मिला इतने अच्छा मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा बहुत संपत्ति नाम ख्याति बहुत हो जाए ज्ञान नहीं हुआ तो जन्म सार्थक हो गया ना ऐसे कितने जन्म पहले चला गया कितने क्या क्या हो करके अभी कुछ पता नहीं इसी प्रकार ये जन्म चल जाएगा मर करके फिर जाकर कहीं पेड़ पौधा भेड़ बकरी कुछ बन जाएगा तो नाम अपने फटो की पूजा होगी स्वयं कहीं बन गया गधा बन गया <laughs> कुत्ता बन गया इधर लोग फटो की पूजा करते हैं आरती करते हैं वही कुत्ता दौड़ कर आएगा उसको भगाएंगे भाग भाग कर लाठी छुपेंगे इसे क्या लाभ है ये सोचना है ज्ञान प्राप्त करना जो दैवी संपत्ति की इकट्ठी करना जो लौकिक संपत्ति है उसको छोड़ना दैवी संपत्ति प्राप्त करना धर्म करना सत्यमान में चलना इसी जन्म में पुण्य पाप तो अपने फल देंगे सुख दुख मिलना जितने मिलना है मिलेगा इसी जन्म सुख के लिए ज़्यादा प्रयत्न करते हैं अगले जन्म स्वर्ग के लिए याग आदि के लिए कौन सोता है करना तो चाहिए अगले जन्म के लिए जो करते हैं किंतु सब ज़्यादातर इसी जन्म सुखों के लिए सोचते हैं सुख किंतु जितने दुख मिला इतने मिलेगा कोई भी साधन हो कितने गृहस्थ लोग पुत्र चाहते सुखों के लिए पुत्र से बहुत सुख मिलता है और पुत्र से इतने दुख मिलता है कि इसकी को जिसके दुख मिला पुत्र नहीं वो सोता है पुत्र नहीं होना भी अच्छा था पुत्र प्राप्त होने पर इतने दुख मिलता है इसी प्रकार केवल पुत्र के लिए नहीं सब चीज में कोई चाह जाता है मकान हो के अपना हो जाए तो अच्छा है मकान हो जाने पर इतने परेशानी होता है सोता है फिर मकान छोड़कर भाग जाता है ऐसे मकान कोई बनाते हैं रहने के लिए ऐसे देखा है कोई ब्रह्मचारी कुछ मकान दो चार कमरा बना दिया उसे मकान की मरामती करने के लिए और कुछ बनाने के लिए और कुछ बनाने के लिए वो दौड़ता रहता है रहता कोई दूसरा जो मकान बनाते समय नहीं था वो रहता आराम से वो उसके लिए भोजन आदि व्यवस्था कर देता तुम रहो क्यों कोई तो रहना चाहिए उसको भोजन आदि व्यवस्था करता है और रहकर शांति से बैठ कर आए भजन करता है अथवा तो जैसे रहता है और जिसने बनाया वो भागता फिरता है पंद्रह दिन भी साल भर साल भर में पंद्रह दिन रहने का समय नहीं कब आया दो चार दिन आएगा तो दो चार दिन कहीं कुछ मिस्त्री लगाया कुछ काम किया फिर भागा फिर रुपया लेकर आएगा फिर भागा ऐसे देखा गया पाँच साल सात साल देखा गया कमरा कुटिया बनाने वाला रहा कम समय और रहते अन्य लोग आकर के तो सुखी हो गया कमरा बना करके दुखी और फिर क्या बाद में बड़े दुखी हो जाता है किसको रखा फिर क्या हो गया फिर किसको देना है फिर बड़े दुखी चिंतित ऐसे ही होता है इसलिए सुख दुख प्राप्ति के लिए नहीं सोचना सुख दुख जितने प्राप्त होगा इतने ही इसलिए और यही सुख दुख के लिए नहीं सोचे और क्या करना है केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए सोचना यही है किंतु ये विपरीत हो जाता है जब सुख मिले दुख नहीं मिले इसके पीछे लग रहे चिंतन करने लगा परमात्मा चिंतन छोड़ दिया जो निश्चित है चेष्टा करने पर भी कम ज़्यादा नहीं होगा उसके लिए प्रयत्न करके सारा जीवन समाप्त कर देते हैं और जो प्राप्त हो सकता है प्रयत्न करके कोई प्रयत्न करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है कर सकता है नहीं उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कर प्रयत्न करने से कुछ होगा और सुख दुख के लिए प्रयत्न करने से सुख अधिक मिल जाएगा दुख कम हो जाएगा नहीं निश्चित है कर्म फल भोगना पड़ेगा इसलिए जन्मांतर कर्म युगात सैव जीव स्वपिति प्रबुद्ध जो सोया हुआ फिर जग जाएगा नींद नहीं लगेगी कर्म फल भोगने के लिए गाढ़ निद्रा चाहते कि थोड़ा और दर्श हो जाए लेटा रहेगा नींद नहीं लगेगी किसको नींद लग जाती है सुश्रुति अवस्था में बड़े धनी सम्राट और भीख मगा दोनों में कोई भेद है गाढ़ निद्रा में सो जाने पर समान है बराबर बल्कि निद्रा सुसुप्ति में अधिक समय जिसको होता है वो अधिक समय सुखी रहा जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा है वो चिंता है वो जग जाएगा सो नहीं सकता है दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं लगेगी और जो कुछ नहीं है देखो कभी कभी एकदम सो करे खराटा लेता है आराम से जो सामान्य कुछ खाया पेट भरे बड़ा सो गया बस आराम फिर उठो जाओ काम करो काम परिश्रम करने वाले मजदूरी करने वाले चले जाएंगे आकर सो जाएंगे आराम से सरस्वती अवस्था में कोई भेद नहीं है दोनों बराबर है अज्ञान दोनों में समान है और भी किसी में नहीं धन का अभिमान रहता है सुश्रुति अवस्था में धन से कोई लाभ होता है अच्छा गा अच्छा सया में कोई सोया हुआ कोई पेड़ के नीचे सोया हुआ किसकी नींद अच्छी होती है <laughs> बराबर नींद के समय समान है छोटा बड़ा नहीं है इसलिए अन्य समय में व्यर्थ छोटा बड़ा क्यों सोचना वास्तव <laughs> तो भेद है ही नहीं ऐसे ही है व्यर्थ ही अज्ञान से आवृत है अज्ञान चैद्रूप आत्मा में कोई भेद नहीं अज्ञान आवृत हो गया अज्ञान से भेद होता है अज्ञान आवृत सो समान है अब विक्षेप होते समय किस विक्षेप किस प्रकार विक्षेप है कर्म के अनुसार है उसमें भी क्या है ये फिर सपना कर्म फल देने के लिए सपना में भोग देने वाले जो कर्म तैयार हो गया तो सुश्रुति से सपने में आ जाएगा तो जागृति में आ जाएगा थोड़ी देर में प्र, प्रबुद्ध जग जाता है तो जीव जागृत काल में रहता है या स्वप्न अवस्था में रहता है दोनों अवस्था में रहेगा सुश्रुति अवस्था में रहेगा तीनों अवस्था में रहेगा पूरत्रय क्रीडति यश्च जीव तीन पूरा में क्रीड़ा करता है बस कभी यहाँ कभी यहाँ बच्चे से बंदर जैसे छलांग लगाता है इधर उधर जाता है बिना कारण किसी शाखा को हिला देता है कहीं बांस को हिला देता है इधर चढ़ जाता है इसी प्रकार ये अपने अपने कर्म के अनुसार कभी सोता है कभी जगता है कभी सपना देखता है यही चल रहा है जागृत सपना सुश्रुति ये तीनों अवस्था ही चलता है या चलती है कोई कभी कुछ तीनों अवस्था के बिना नहीं हाँ यदि जागृत अवस्था में कोई समाधि अभ्यास करे तो उसको कहेंगे तूर्य तीनों से भिन्न चतुर्थ जागृत काल होते हुए भी बैठा हुआ विक्षेप नहीं है सुश्रुति अवस्था में तो विक्षेप नहीं है समाधि काल में भी अभ्यास करने से विक्षेप नहीं होता है तो द्वैत का विस्मरण जैसे सुश्रुति में ऐसे समाधि में भी समान है किंतु इतने मात्र से समाधि में बैठ बैठ गया जो द्वैत विस्मरण हो गया ज्ञान नहीं हुआ योगियों को जैसे समाधि होती है ये समाधि में से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिए इसलिए वेदांत के लिए जो समाधि है ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चले बिल्कुल वृत्ति का अभाव अगर खाली वृत्ति प्रवाह से अज्ञान निवृत्ति होने के बाद वृत्ति की शांति वो अलग चीज है ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाह के बिना खाली शांत होकर रह जाए वो समाधि हाँ अंतकोण शुद्धि के लिए साधन है चित्त एकाग्रता द्वैत विस्मरण देहाभिमान नष्ट हो जाता है समाधि काल में तब जागृत काल में विचार करते समय सहायक होता है देहाभिमान नष्ट हो जाता है तो देह में अम्बुद्धि नहीं रहती ये सब आवश्यक है किंतु अज्ञानी की निवृत्ति तो ब्रह्म ज्ञान से तो ब्रह्म कौन है जो तीनों अवस्था में तीनों अवस्था को प्रकाश करने वाला तीन अवस्था अवस्था से विलक्षण पुरात्रय क्रीड़ती यश्च जीव तीनों अवस्था में जो क्रीड़ा करता है कभी किस में जाता है कभी किस में जाता है ये स्थूल सूक्ष्म कारण स्थूल शरीर में सूक्ष्म प्रपंच में स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच और अज्ञान कारण है तीनों में क्रीड़ा करता है ततस्तु जातम सकलम विचित्रम उसी से ही सकल कार्य उत्पन्न होते हैं वही ब्रह्मस्वरूप है जो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ हम चाप इमाम विद्य भगवान कहते सर्व को जानने वाला परमात्मा ब्रह्म है एक ही अधिष्ठान एक में द्वितीयम ब्रह्म है जो ब्रह्म है एक अद्वितीय अधिष्ठान तत्सत्यम स आत्मा तत्व से कह करके वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही हो तुम कहन से आत्मा ही है तुम अलग आत्मा अलग नहीं है और जो आत्मा है वही सत्य है वही ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुति का उद्घोष है जो ब्रह्म है वही सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म उसी ब्रह्म को ही श्वेत केतु को अरुण उपदेश करते सदैव समय इधम अग्र आसित एक द्वितीयम अंत में कहते तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत केतु वही ब्रह्म ही सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो एक ही तत्व है उसी से ही सारे जगत की सृष्टि होती है अज्ञान से और ज्ञान से ही सृष्टि है शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष निष्क्रिय है सृष्टि प्रपंच दिखता है तो अज्ञान से ही सृष्टि हुई जादूगर जैसे बना देता है बनाता का नहीं दिखा देता है लोग देखते हैं बनाता कुछ नहीं इसी प्रकार ये जब तक तो दिखता है तब तक तो लगता है सृष्टि हुई श्रुति में जो सृष्टि कही गई वस्तु तो सृष्टि में उसका तात्पर्य नहीं है ये दिखता है भ्रांति से सपने में प्रपंच दिखता है मकान दिखता है मंदिर भी दिखेगा तो मंदिर को बनाना पड़ता है आप तो नहीं बनाए दूसरे किसने बनाया बस वही दिखता है केवल इसी प्रकार जागृत प्रपंच है दिखता केवल यही एक तत्व है उसमें सब कुछ आरोपित है अधिष्ठान तत्व ही सत्य है वही ब्रह्म है वही आत्मा है वही सत्य है पुनश्च आनंदात्मस्वरूप प्राप्य भूयोपि जन्मांतर कर्मयुगात प्राग भव्य कर्मानुसाराद सैव आनंद स्वरूप प्राप्त सुसुप्ति गो नो जीव प्राणावधारक स्वीति स्वप्नावस्थान गच्छति सुश्रुति अवस्थानाद अथवा प्रबुद्ध प्रबोधम जागरण प्राप्त होती शेष पुनश्च जन्मांतर कर्म फिर वो जगता है सुश्रुति अवस्था से फिर आ जाता है सुश्रुति अवस्था में आनंद आत्मस्वरूपम प्राप्य आनंद रूप जो आत्मस्वरूप उसको प्राप्त करता है सुश्रुति अवस्था में किस प्रकार तमो विभूत अज्ञान से आवृत होकर के आवरण केवल रहता है विक्षेप नहीं रहता है तभी कितना आनंद होता है विक्षेप नहीं रहने से इतना आनंद है सुश्रुति अवस्था में जागृत काल में स्वप्न काल में विषय होकर के थक जाते हैं इंद्र भी थक जाती है भोगते भोगते सुनते सुनते संगीत तो कोई भजन सुनो बहुत अच्छा लगता है बाद में बहुत सुनने के बाद फिर नहीं छोड़ो सुनते सुनते फिर थक जाता है सब विषय हो करके थक जाते हैं तो सुश्रुति में फिर शांत ये बिल्कुल आराम हो जाता है सब छोड़ करके सब सो जाते हैं तो फिर आनंद हो गया ये आनंद स्वरूपम प्राप्य अज्ञान से आवृत आनंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त करता है सुश्रुत अवस्था में फिर भूयोपी जा फिर जा फिर आता है जागृत सपनों का आता है क्यों आता है सुश्रुत अवस्था में से आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया फिर क्यों आता है जन्मांतर कर्म योगा तो आना ही पड़ेगा प्रलय काल में सब रहते प्रकृति में लीन हो जाते हैं सृष्टि काल में फिर अपने जो संपत्ति है कर्म है संपत्ति धर्म अधर्म उसको लेकर आते हैं प्रलय के बाद जब जन्म लेते हैं पुण्य पाप अपने साथ है प्रलय कार्य में भी कोई लीन हो गया कारण रूप से रहा तो अपने जो पुण्य पाप उसको कोई ले लेगा सरस्वती अवस्था में सरस्वती अवस्था में सो जाओ तो भी कोई नहीं लेगा चोर भी नहीं लेगा पाप तो कोई नहीं लेना चाहिए तो पुण्य भी कोई नहीं ले सकता है फिर जब उस प्रलय काल से आएगा वो अपने पुण्य पाप साथ में लेकर आएगा साथ में कि आप जहाँ जाना है आपका कर्म पहले जा करके आपके लिए वो बना देगा सब ऐसे ही परिस्थिति कोई कहते यहाँ बहुत राग द्वेष इसको छोड़ कर चल जाएंगे दूसरे स्थान में जाने जाते समय वहाँ ऐसे ही सब है राग द्वेष तुरंत वह शुरू हो जाएगा जिसका जो कुछ कर्म फल भोग होता है प्रारब्ध कर्म फल भोग रहता है रहा है एक स्थान छोड़ दूसरे स्थान जाएगा तो प्रारब्ध कर्म फल देगा बस प्रारब्ध कर्म पहले जा करके सब इसी व्यवस्था कर देगा अब जाते ही तुरंत वही भोग होगा जितने जो भोग यहाँ होता था वही होगा कर्म फल भोगना ही पड़ता है कर्मयुगात जन्मांतर कर्मयुगात भो फिर जन्मांतर था प्राग भव्य कर्म अनुसार पहले जन्म में बहु जन्म में कर्म किया था उसमें कर्म के अनुसार अभी भोगने के लिए आया है सैव आनंद स्वरूपम प्राप्त एवं सैव सैव जीव स्वपिति प्रबुद्ध सैव जीव वही जीव जो आनंद स्वरूप प्राप्त किया तो वही आएगा ब्रह्मसूत्र में इसका विचार होता है सुश्रुति अवस्था को जानने के बाद जो जगता है क्या वही आता है या दूसरे आता है तो पूर्व पीछे कहेगा जैसे समुद्र सब पानी मिल गई गंगा यमुना सब पानी चौ पहुँच गई और लोटा लेकर पानी डाल दो फिर लोटा में पानी निकालो जो पानी आपने डाला था वो पानी आ जाएगा जा गंगा जी में देखो पानी लेकर डाल दो फिर लोटा उठाओ वो नहीं आएगा तो सुश्रित अवस्था में चले गया जो जगेंगे कोई दूसरा आ जाएगा ऐसे धांति कहता नहीं जो ही जगता सोता है वही आता है क्योंकि वही स्मरण करता है स्मरण अनुस्मृति स्मरण करता है ये काम बाकी क्या है बाकी है उसको करना है अपने तो अपने लोटा तो इसमें डुबाया लोटा को ऐसे रखा ऊपर बंद करके पानी में गंगा जी ऊपर लोटा जैसे गंगोत्री में लेते गंगा जल रामेश्वर में डालने के लिए वो लोटा में ऊपर बंद करके रखते हैं उसको गंगा जी में डुबा कर डुबा दो तला में डुबा दो उठाएंगे तो जो जल पहले था वह आएगा ऊपर बंद है और डुबा कर जितने दिन रहे प्रलय काल में सब अंतकरण सबका अंतकरण ज्ञान में लीन हो गया एक ही अज्ञान है उसमें सब लीन हो गया एक मत है नाना अज्ञान भी मानते हैं अविद्या ये जितने ज्ञान इतने अज्ञान इसे मानते हैं और एक माया में सब लीन हो गए फिर जब आएंगे वही लोटा वही पुण्य पाप साथ में आएगा पाप पुण्य कर्म वासना संस्कार सब साथ में आएगा फिर भोग करेगा सैव जीव सुश्रुति काल से ही जब जगता है सएव जीव वही वही कहता सैव आनंद स्वरूपम प्राप्त एव सुश्रुति गत जो सुश्रुति को गया था वही आता है स एव एवकार का क्या अर्थ है अन्य नहीं न तो अन्य जीव अन्य जीव नहीं न तो अन्य नहीं वो जो था वही है सैव जीव सैव न तो अन्य सैव का अर्थ वही न तो अन्य जो सोया था वही जगता है जीव जीव शब्द का अर्थ प्राणावधारक प्राण धारण करने से जीव हुआ सपीति सपीति का था सपन अवस्था में गच्छती सैव जीव सपन अवस्था को प्राप्त करता है सुश्रुति से सपनावस्था को आता है सप शब्द शयन के लिए दोनों स्वप्न में भी सुश्रुति दोनों में सपीति शब्द प्रयोग होता है स्वप्न अवस्था में गच्छति अवस्था में गच्छति उसके पहले कहा किस अवस्था में था सुश्रुति सोए करके अभी जग रहा है सुश्रुति से सुश्रुति गत फिर स्वप्न अवस्था का सुश्रुति अवस्थानात सुश्रुति अवस्थान से स्वप्न अवस्था को आता है सपीति प्रबुद्ध सपीति कहा अथवा प्रबुद्ध सपीचे स्वप्न अवस्था से सो स्वप्न सुश्रुति अवस्था में स्वप्न अवस्था को आता है अथवा प्रबुद्ध प्रबुद्ध जागृत को प्राप्त करता है स्वप्न अवस्था में आता है कभी जागृत अवस्था को आ जाता है प्रबोधम जागरणम प्राप्त होती शेष जागरण सपीति प्रबोध प्रबुद्ध है प्रबोधम प्राप्त होती प्रबोध को प्राप्त करता है प्रबुद्ध हो जाता है प्रबुद्धम जागरणम प्राप्त होती इधानी जीव ब्रह्मण ब्रह्मणो ऐक्यम माह जीव ब्रह्म एक ही है उपाधि के कारण भेद होता है वास्तव भेद नहीं है जीव को कहीं कहीं कहते प्रतिबिंब ब्रह्म का प्रतिबिंब ब्रह्म अधिष्ठान चैतन्य एक है माया अविद्या में उसका आभास चिदाभास दिखता है उसको जीव शब्द से कहते हैं अधिष्ठान चैतन्य तो रहेगा और चिदाभास उसमें मध्य अलग हो गया तो जीव हुआ बिंब प्रतिबिंब रूप कहते हैं कहीं कहीं कहते ईश्वर जीव बिंब तो ब्रह्म है ईश्वर भी प्रतिम्ब जीव भी प्रतिम्ब उपाधि के कारण भेद हुआ दो दर्पण प्रतिम्ब दो दिखते हैं बड़ा दर्पण बड़े स्वच्छ दर्पण स्वच्छ दिखेगा महिला दर्पण महिला दिखेगा दो उपाधि से दो प्रतिम्ब हो गया प्रतिम्ब में तो भेद है कि दोनों दर्पण में जो दिखता है प्रतिम्ब वो बिंब कितने है दो दर्पण में दो प्रतिबिंब और बिंब हजार दर्पण में प्रतिबिंब हजार हो जाएगा बिंब कितना होगा एक ही बिंब रूप चेतन है सबके अंतकरण प्रतिबिंबित तो होता है चिदाभास अलग अलग हो गया शरीर अलग है अंतकरण अलग है और चिदाभास प्रतिबिंब अलग हो गया उसी को जीव मान करके कहते अनेक जीव न्यायिक लोग भी कहते आपका आत्मा सबके शरीर के अंदर बाहर सर्वत्र है व्यापक है आपका स्वरूप का प्रतिबिंब सब के अंतकरण में होता है तो आप प्रतिबिंब रूप है या बिंब रूप है बिंब रूप चेतन को मानना है आपका बिंब रूप का प्रतिबिंब आपके अंतकरण में होता है दूसरे अंतकरण में होता है सब के अंतकरण में जो प्रतिबिंब वो आपका ही है ये सोचना है कि मैं बिंब रूप चेतन हूँ मेरा प्रतिबिंब सबके अंतकरण में है अंतकर्ण जो चिदाभास उसको जीव मान करके उसमें भेद है और उसमें भी झगड़ा राग देश किस में प्रतिबिंब में दो दर्पण दस दर्पण में बिंब रूप एक का प्रतिबिंब अलग अलग है अब प्रतिबिंब आपस में लड़ रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं किसे मैत्री किस में एक बिंब है यदि बिंब रूप को समझ लिया और समझे कौन झगड़ा कर रहा है झूठे झूठे प्रतिबिंब भाष में देह में अभिमान करके झगड़ा है बिंब रूप को समझ लिया कितने है चेतन एक ही झूठा ही भेद झूठा ही झगड़ा झूठा ही राग देश झूठे उसमें ही रह करके अनादिकाल से उसके पीछे उसमें अनादिकाल से ही कर रहा है प्रतिम्ब को मैं मान करके देहादि में अहम बुद्धि करके सुख दुख भोगना राग द्वेष करना जन्म मरण को प्राप्त करना यही चल रहा है अभी भी कम से कम समझ ले बिंब रूप में हूँ मैं प्रतिबिंब नहीं हूँ सारे प्रतिबिंब मेरे ही है सारे प्रतिबिंब आपका है तो कहीं दर्पण हिल रहा है तो प्रतिबिंब हिलेगा आपका प्रतिबिंब स्थिर होता है आप क्या आप सब क्या चाहते हैं अपने अंतकोण को शांत करना चाहते हैं आपका अंतकोण शांत हो गया तो दूसरे अंतकोण हिल सकता है नहीं तो आपका प्रतिबिंब एक स्थान में शांत हो गया तो दूसरे स्थान में हिलेगा ना नहीं तो सब समझ लिया बिंब रूप मैं हूँ तो प्रतिबिंब हिलते रहे तो क्या बिगड़ा दर्पण हिलते रहे हिलाने दर्पण हिलते रहे दर्पण बिंब रूप समझ लिया तो अंतकरण हिलते रहे तो क्या हो जाता है सबके अंतकरण अलग अलग दिखता है वास्तव अंतकरण है ही नहीं झूठा है उसके साथ बिंब का संबंध भी नहीं है मुख के साथ दर्पण का क्या संबंध है दर्पण दूर में है मुख यहाँ है प्रतिम्ब उसमें दिखता है दर्पण में मुख रहता है प्रतिम्ब रहता है प्रतिम्ब कोई पदार्थ है दर्पण में रहता है दिखता है रहता कुछ नहीं है दिखता है इसी प्रकार चेतना आपके अंतकर्ण के माध्यम से अभिव्यक्त होता है दिखता है अंतकर्ण में चिदाभास जो कहते चेतना जैसे लगता है और चेतन है ही नहीं जिसको चेतन मानते हैं वो चेतना है ही नहीं चेतन जैसे लगता है उसके चिदाभास कहते उसको लेकर के हम कहते चेतन और पत्थर कहते जड़ दीवालों कहते जड़ शुद्ध चेतन दीवाल में कम है ज्यादा है समान शुद्ध चेतन समय बराबर है ये चिदाभास झूठे झूठे चिदाभास को लेकर के चेतन कहते हैं चिदाभास कोई वास्तव पदार्थ है क्या बिंब से भिन्न है ही नहीं जिसको लेकर के चेतन कहते हैं तो बिंब रूप चेतन एक है वही जागृत सपन सुश्रुति तीनों को प्रकाश करने वाला है सुश्रुति जागृत सपन तीनों को प्रकाश करने वाले बिंब रूप अंतकरण तो कान मिलीन हो गया सुश्रुति अवस्था में अंतकरण भी जड़ है वही जो घट ज्ञान पट ज्ञान जागृत अवस्था में होता है अंतकरण का परिणाम में भी वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब चिदाभास चेतन के संबंध से वृत्ति को भी ज्ञान कह देते हैं एक चेतन है जागृत का भी दृष्टा है स्वप्न का भी दृष्टा है साक्षी सुश्रुति अवस्था में अज्ञान का साक्षी है आप जागते हैं अभी स्वप्न देखते समय आप रहते हो दूसरा स्वप्न देखता है आपने स्वप्न देखा और जगने का कहते हैं मैंने स्वप्न देखा असुश्रुति अवस्था में मैं सुखम अहम अस्वापसम तीनों अवस्था का परामर्श करने वाला चेतन जागृत सपन सुश्रुति तीनों को प्रकाश करने वाला चेतन एक सूत्र काल पुरुष बताया था जिसको हम जानते हैं हमसे भिन्न है जो देखता है घटपट को घट नहीं पट नहीं घटपट का दृष्टा घट से भिन्न है दृश्य दृक रूप चेतन से भिन्न है आपका दृश्य जागृत प्रपंच अभी जागृत अवस्था में स्वप्न प्रपंच स्वप्न अवस्था में आपका दृश्य साक्षी का दृश्य स्वप्न प्रपंच असुश्रुति अवस्था में क्या दृश्य है अज्ञान सुश्रुति अज्ञान है जितने दृश्य है दृग उससे भिन्न है जागृत का जो प्रकाशक वो सपन अवस्था में रहता है नहीं रहता है सुश्रित अवस्था रहता है सुश्रित अवस्था में जो रहता है जगने के बाद वही रहता है दूसरा है तीनों अवस्था को प्रकाश करने वाला पूरा त्रय क्रीडत्यश्च जीव यही जीव ब्रह्म की एकता जो जीव रूप से जागृत सपन सुश्रुति अवस्था में रहता है वही ब्रह्म है तीनों अवस्था का प्रकाशक इधानी जीव ब्रह्म ब्राह्मण रैक्यमाह पुरत्रये तीन पुर है पुराणाम पुरत्र पुरत्रय स्थूल सूक्ष्म अज्ञान आख्य शरीर त्रय ये पूरा है शरीर शरीर त्रय तीनों शरीर में स्थूल शरीर तो दिखता है सबको अन्नमय कुश सूक्ष्म शरीर है ज्ञान इंद्र कितने है पांच कर्मेंद्र प्राण भी पांच कितना हो गया और उसमें अंतकोण मिला दो अंतकोण का मन बुद्धि कहें तो सत्र हो जाएगा मन बुद्धि चित्त आकार कहें तो उन्नीस हो जाएगा तो सत्र कहते हैं उसमें चेतना का आभास दिखता है बुद्धि में चिदाभास सूक्ष्म शरीर में अब कारण शरीर क्या है अज्ञान अनिर्वाच्य अनादि अज्ञान अज्ञान आखे स्थूल सूक्ष्म अज्ञान आखे शरीरत्रय स्थूल सूक्ष्म अज्ञान है कारण शरीर शरीरत्रय क्रीडती क्रीड़ा करता है जीव विहरती यश जीव विहार करता है बड़े प्रसन्न होकर कभी किसी में कभी किसी में तीनों को प्रकाश करता है स्वप्न अवस्था में करोड़ों रुपया मिल जाएगा ये जगने के बाद कितने लेकर आता है स्वप्न अवस्था कोई पुण्य कर्म करता है पाप कर्म करता है जगन में आता है अपने को क्या मानते हैं पुण्य पाप करता मानता है आगत न भवती स्वप्न में जो कर्म करता है वो कर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं है असंग हो ही पुरुष आत्मा असंग है जागृत काल में जितने धन संपत्ति है धन संपत्ति का भोजन पेट भर खा कर सोया स्वप्न अवस्था में वो भोजन पेट में रहता है सपन देखते समय अपने को भूखा क्यों मानता है मैं भूखा हूँ गला सूख जाता है चिल्लाता है पानी दो कोई झूठा खाता है तो झूठा भी झूठा भी दे दो पानी थोड़ा दे दो पी दे गला में पानी दे दो अर्थात स्वप्न अवस्था में ये जागृत प्रपंच के धन संपत्ति भोजन आदि कुछ काम करते हैं कुछ काम नहीं करते हैं स्वप्न अवस्था में अपने को मानता है कुछ अलग जागृत कालीन पुण्य पाप कर्म भी स्वप्न अवस्था में नहीं स्वप्न कालीन पुण्य पाप जागृत में नहीं पुण्य पाप कर्म जो व्यवहार अवस्था में तो रहेगा तीन अवस्था में किंतु स्वप्न में जो देखता है मैं दुखी हूँ वो कर्म अलग है सुखी का भी होता है कर्म अलग है स्वप्न व्यवस्था में कुछ कर्म करके आता है धन कमा करके आ जग गया जगने के बाद कितने धन रहेगा कुछ नहीं सब भूखा है सो गया स्वप्न स्वप्न अवस्था में अच्छा भोजन कर लिया जगने के बाद और भूख लगेगी जो पहले भूखा था नींद लग गई सो गया और स्वप्न अवस्था में अच्छा भोजन मिल गया राजमहल बड़े सम्मान के साथ नमस्त है पूजा करके माला चढ़ा करके भोजन पेट भर खिला दिया और जगने के बाद भूख लगी क्या जैसे पेट भर खाकर जग गया तो भूखा जैसे पहले था हुई है इसी प्रकार पुण्य पाप कुछ साथ में नहीं आता है जैसे स्वप्न से नहीं आता है इसे तीन अवस्था में क्रीड़ा करता है तीन अवस्था से विलक्षण है शुद्ध है जागृत प्रपंच जागृत सुख दुख जागृत कर्म जितने भी है वो कोई आपके साथ स्वप्न अवस्था में नहीं जाते हैं आत्मा से भिन्न है आत्मा रहने पर भी अन्य नहीं रहता है इसे अन्वय व्यतिरिक होता है जो तीन अवस्था में रहता है तीन अवस्था में उसका अन्वय हुआ वही सत्य है जो एक अवस्था में है दूसरी अवस्था में नहीं है वो उसका व्यतिरिक्त हो जाता है जिसका अभाव हो जाता है वो सदरूप है ना अभाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं होता है स्वप्न अवस्था में जागृत प्रपंच रहता है सुश्रुति अवस्था में जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच इसलिए सत नहीं है ना अभाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं होता है जिसका अभाव होता है वो सत नहीं है यही विचार करना है पुरत्र क्रीडति यश्च जीव चकार एवकार अर्थ यश्च य एव जीव पुरत्रय क्रीडति यश्च य एव जीव जो ही एवकार दिया प्रसिद्ध वही परमात्मा एव जो प्राणधारक वही परमात्मा ही ततस्तु तस्मादेव जीवा बिना न तो अन्य वही परमात्मा जीव सभी न अन्य कुछ नहीं उससे ही परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है और जीव सभिन्न है न तो अन्य तस्मा जातम उत्पन्नम सकलम निखिलम विचित्रम विविध कर्म नाम रूपम विश्वम सारे कार्य प्रपंच विचित्र निखिल प्रपंच विविध नाम रूप नाम रूप कर्म विविध कर्म नाम रूपम कर्म नाम रूप सारा विश्व से उत्पन्न होता है अज्ञान से उत्पन्न होता है अज्ञान अज्ञान को कहते समय लग जाता है अज्ञान नाम को कोई पदार्थ वास्तव है उसे उत्पन्न ऐसा नहीं अज्ञान से मतलब वास्तव नहीं होता है ओम सहनावतु सहनौ तो सह वीर वै तेजस्वी नधीतमस्तु मां विद्विषावहै ॐ शांति शांति शान्तिः